अय आदम के बेटों और बेटियों शैतान को ऐसा मौका हरगिज हरगिज न देना कि वो तुम्हें उसी तरह फितने में डाल दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला जबकि उनका लिबास उनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे वो और उसका जत्था तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते इन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है جو ایمان نہیں لاتے